बकवास एक बार फिर से यहाँ पर सन्नाटा छा चुका था विक्रांत के टीम मेंबर्स और नैना के पेरेंट्स के बीच अजीब सी शांति का माहौल बना हुआ था नैना के डैड तो थोड़े बहुत सहज दिख भी रहे थे लेकिन विक्रांत के टीम मेंबर्स की तो हालत खराब थी उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था अच्छा ये हुआ कि वहाँ काफी सारे गेस्ट आ रहे थे और कुछ ही पल बाद नैना के पेरेंट्स दूसरे गेस्ट का स्वागत करने के लिए गेट पर चले गए उनके जाने के बाद ही ये लोग थोड़ी राहत की सांस ले पाए तुम तुम लोगों को हुआ क्या है ऐसे अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो ने कंफ्यूज होते हुए कहा मेरे मोम डैड कोई भूत हैं क्या ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो नैना के इस सवाल ने विक्रांत की टीम मेंबर्स के माथे की ओर फिर से पसीना ला दिया था वो लोग विक्रांत की तरफ देखते हुए इस सवाल का जवाब ढूंढने लगे हालांकि शायद उन्हें ये नहीं पता था कि विक्रांत की तरफ देखना उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अरे देख क्या रहे हो तुम लोग डिप्टी टीम लीडर मैडम के सवाल का जवाब क्यों नहीं देते विक्रांत ने ऐसे बिहेव किया जैसे मानो उसे इन लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं है इस पर हर्ष को एक बार के लिए विक्रांत के ऊपर गुस्सा भी आया उसका मन किया कि नैना को विक्रांत की सारी सच्चाई बता डाले लेकिन फिर वो आगे के परिणाम के बारे में सोचकर ठहर गया ए, नहीं तो नहीं तो मैडम वो दरअसल आपका घर बहुत बड़ा है ना और आज तक मैं कभी इतने बड़े घर में नहीं गया सो हम लोग थोड़ा नर्वस हो रहे थे हर्ष ने किसी तरह से बात बनाते हुए कहा सर सर तो बहुत लकी है इतने बड़े घर में उनकी शादी होने वाली है हर्षित ने भी हर्ष की बातों से सहमति जताते हुए कहा अच्छा तो जाओ तुम लोग घर देख लो विक्रांत ने मौका पाते उन लोगों को यहाँ से जाने का इशारा कर दिया और फिर उसने नैना का हाथ पकड़ते हुए कहा बेबी तुम चलो ना मुझे मेरा हनीमून वाला रूम दिखाओ इन लोगों के जाते ही वहां न जाने कहा से रूही भी पहुंच गई वो कंफ्यूज होकर कहने लगी यहाँ हॉटपॉट चिकन कहा है मुझे तो नहीं मिला जब विक्रांत और नैना एक खाली रूम में पहुंचे तो वहां पर नैना ने विक्रांत को दीवार से सटाकर खड़ा करते हुए कहा तुम तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या पागल हो क्या मैं क्या छुपाऊंगा कुछ तो नहीं है विक्रांत झूठ बोलने में माहिर था उसने तुरंत ही जवाब दिया लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया उसने तुरंत ही बात बदलते हुए कहा पता है मुझे किस चीज की फिक्र हो रही है क्या अब तुम्हें किसी चीज की फिक्र होने लगी नैना वाकई में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी फिक्र फिक्र इस बात की हो रही है कि फुल सस्पेंस बनाने के लिए विक्रांत ने कुछ पल रुककर गहरी सांस लेते हुए आगे कहा तुम्हारे डैड तुम्हारे डैड ने कुछ गलत किया है विक्रांत तुम्हारा दिमाग खराब है क्या नैना ने परेशान होते हुए विक्रांत से कहा आखिर मेरे डैड ने तुम्हारे साथ क्या गलत कर दिया विक्रांत जल्दी से सीधा खड़ा हुआ और फिर उसने शांत होते हुए कहा तुम खुद देखो तुम्हारे डैड ने कितनी बड़ी पार्टी अरेंज की है और उन्होंने कितने लोगों को इनवाइट किया है लेकिन क्यों क्या जरूरत थी इसकी हम्म, ये तो हमारे बिजनेस की वजह से किया गया है तुम ऐसे क्यों कह रहे हो नैना ने कहा विक्रांत ने फिर थोड़े चिंतित लहजे में कहा दूसरे भले ना समझे लेकिन तुम्हें समझना चाहिए तुम अभी खुद न्यूजीलैंड से लौट कर आई हो और वहाँ पर जो कुछ हुआ वो तुम्हें अच्छे से पता है तुम खुद जानती हो कि तुम्हें अपने दुश्मनों की नजरों से बचकर रहने के लिए मुझसे भी दूरी बनाकर रहनी पड़ी थी तुम अपनी आइडेंटिटी तक छुपा कर रह रही थी लेकिन अब यहाँ आकर इस तरह पार्टी अब जाकर नैना को विक्रांत की बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी थी देखो अभी तुम लोगों के लिए ये टाइम ठीक नहीं है मेरा मतलब है कि अभी तुम लोगों को कुछ दिन तक शांत रहना चाहिए विक्रांत ने पार्टी में आई हुई भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा तुम खुद देखो डैड ने कितने लोगों को इनवाइट कर रखा है यहाँ मुझे उतनी सिक्योरिटी भी नहीं दिख रही है अब अगर कहीं गलती से कोई आदमी यहाँ पहुंच गया तो तो फिर क्या होगा मुझे तो मेरे फ्यूचर डैडी जी की चिंता हो रही है ओ मेरा बेबी नैना ने मुस्कुराते हुए विक्रांत का बाल सहलाते हुए कहा थैंक यू बेबी तुम मेरा और मेरी फैमिली का कितना ख्याल रखते हो बट तुम चिंता मत करो अभी तुम मेरे डैडी को जानते नहीं वो सब कुछ प्लानिंग करके ही करते हैं और उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही ये पार्टी अरेंज की है डैड हमेशा ऐसे ही करते हैं अब देख लेना कल से ही डैड और मॉम गायब हो जाएंगे कोई जान भी नहीं पाएगा कि वो दोनों कहाँ चले गए लेकिन लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा विक्रांत अभी भी काफी चिंता में था उसने फिर नैना की तरफ देखते हुए कहा लेकिन उन लोगों की सेफ्टी क्या मैं न्यूजीलैंड में उन एजेंट से एक बार भिड़ चुका हूँ और मुझे पता है वो लोग कितने डेंजरस हैं उनसे बहुत बचकर रहना चाहिए तुम लोगों को नहीं सब कुछ कंट्रोल में है तुम चिंता मत करो नैना ने कहा भले ही डैड ने मुझे कुछ ज्यादा नहीं बताया है लेकिन मैं उनको अच्छे से जानती हूँ वो कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है और उन्होंने ये सब करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग भी की होगी नैना के शब्दों ने तो विक्रांत को और ज्यादा चिंता में डाल दिया उसे डर लग रहा था कि अब नैना के डैड के हर एक्शन के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है तो फिर निश्चित रूप से हॉटपॉट चिकन रेस्टोरेंट वाली बात छुपाने के पीछे कोई न कोई बड़ा कारण जरूर होगा इसके साथ ही विक्रांत को आज अदृश्य शक्ति की तरफ से पृथ्वी कोडवर्ड दिया गया था पृथ्वी कोडवर्ड वैसे भी विक्रांत के लिए अच्छा नहीं होता जब जब उसे ये कोडवर्ड मिलता है तब तब उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होता है ऐसे में कहीं आज फिर से ये कोडवर्ड अपना असर न दिखा दे और डैड ने पहले ही यहाँ के लिए स्पेशल सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा है ऐसे में कुछ घबराने की जरूरत नहीं है नैना ने विक्रांत को समझाते हुए कहा और तुम्हें तो पता ही है कि वो कमर्शियल वॉर अब खत्म हो चुका है और वहां पर वो लोग आराम से ही लड़ रहे हैं इस वक्त उन लोगों की हालत वैसे ही बहुत खराब हो चुकी है उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो लोग यहाँ आकर कुछ हरकत करने की कोशिश कर सकें फिर उसने आगे कहा और हाँ अगर वो लोग यहाँ आने की हिम्मत करेंगे तो फिर समझ लो उनके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी डैड ने उनके लिए पहले से ही ट्रैप तैयार कर रखा है नैना के आखिरी शब्दों से विक्रांत का ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया ऐसा लग रहा था कि नैना के डैड पहले से ही सारी तैयारी करके बैठे हुए हैं लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक विक्रांत को यहाँ पर मिस्टर चौटाला जी नहीं दिखाई पड़े हम्म, नैना विक्रांत ने फिर थोड़े मजाकिया मूड में आते हुए कहा तुमने अभी जिस आदमी से हम लोगों को मिलवाया है वो फेक तो नहीं है ना क्या तुम बकवास किए बिना रह नहीं सकते क्या हाँ नैना ने फिर सिर हिलाते हुए कहा और तुम आज कुछ नशा करके तो नहीं आए हो ना इतना कहते हुए नैना ने विक्रांत का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे अपने साथ खींचते हुए बोल पड़ी चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ